ये बुत कुछ नहीं सिवाय चंद नामों के जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं इनकी अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं की नहीं वो पीछे चलते मगर वहमो गुमान के और जो उनके दिल चाहते हैं हालांकि बिलाशुबा यकीनन उनके रब की जनाब से उनके पास हिदायत आ चुकी है